सर मैं अपने फादर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ इंटरोगेशन रूम में अंकित ने विक्रांत से कहा सर मेरे फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था आप सही कह रहे थे जब मुझे लगा कि चाकू की वजह से मैं फंस सकता हूँ मुझे लगा था कि अगर पुलिस में चाकू की बारीकी से जांच की तो फिर मैं फंस सकता हूँ फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने फादर की मदद ली उन्हें कुछ बताया नहीं था बस इतना कहा था कि जब पुलिस मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं आपके साथ शहर से बाहर गया हुआ था मैंने उनसे कहा और वो तुरंत मान भी गए उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सर वो निर्दोष है उनकी कोई गलती नहीं है उन्हें कुछ नहीं पता था प्लीज उन्हें बचा लीजिए जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है सब मेरा फॉल्ट है और सजा भी बस मुझे ही मिलनी चाहिए इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है मेरे फादर को कुछ मत कहना मैंने जुर्म किया था और इसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और अब मेरे भाई के जेल से बाहर आने के बाद मेरी फैमिली खुशी से रहे मैं यही चाहता हूँ मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरे फादर खुशी से उनके साथ अपनी जिंदगी काटें एक हंसते खेलते परिवार की खुशी तुमने छीन ली और अब विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तुम्हारी ये गलती की वजह से ना सिर्फ तुमने खुद के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी और एक निर्दोष को जेल में सड़ने के लिए भिजवा दिया और रही बात तुम्हारे फादर की तो उन्होंने झूठी गवाही दी थी और साथ ही अपने नौकर को भी पैसे देकर उसे झूठी गवाही दिलवाई थी तो गलती तो उन्होंने की ही थी अब उन्हें कानून के हिसाब से जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हम्म, अंकित ने रोते हुए कहा मुझे माफ कर दो गलती होगी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे तुम्हें ये माफी अपने भाई रोहन से मांगनी चाहिए विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें उस निर्दोष टीना से भी माफी मांगनी चाहिए अगर तुम किसी की जिंदगी लेते हो तो फिर तुम्हें उसका बदला भी अपनी जिंदगी देकर चुकाना होगा अगर तुमने किसी का पैसा खाया है तो फिर पैसे देकर उसे पूरा करना होगा अब तुमने जो गलती की है अब उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता इतना कहकर विक्रांत पीछे मुड़कर जाने लगा लेकिन तभी अंकित ने कहा विक्रांत सर मुझे एक और चीज आपको बतानी है वो वो मोहनी वो मोहनी विक्रांत रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा मैंने सुना था अंकित ने कहा उसने शू कंपनी के मालिक मेहता से शादी की है मेहता उसे उम्र में दोगुना बड़ा है लेकिन मोहनी सिर्फ पैसे से प्यार करती थी मैंने सुना है कि उसे पुलिस ने किसी मर्डर केस के सिलसिले में अरेस्ट किया था मैं ये पूछ रहा था कि क्या सच में मोहनी किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से मेहता सिस्टर्स का मर्डर करवा सकती है विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंकित उसकी और स्वाति के बीच फोन पर हो रही बात को सुन रहा था विक्रांत को यह नहीं पता था कि अंकित का इंटेंशन क्या है इसलिए उसने जवाब दिए बगैर उसे सवाल किया तुम क्यों पूछ रहे हो सर मुझे नहीं पता कि आप इस केस के इंचार्ज हैं या नहीं अंकित ने जवाब दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहनी सच में बहुत शातिर है वो जरूर ऐसा कर सकती है हम्म, विक्रांत ने अपना मुंह तो अंकित की सच्चाई बताने के लिए ही खोला था वो अंकित को बताना चाहता था कि मोहनी को गलत तरीके से फंसाया गया लेकिन फिर उसके दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने अपना इरादा बदल दिया सर मैं सच कह रहा हूँ मोहनी से मेरी दुश्मनी है इसलिए नहीं अंकित ने कहा वो सच में बहुत चलाक है बहुत शातिर है वो कुछ भी कर सकती है किसी भी हद तक गिर सकती है मुझे पूरा यकीन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देकर मर्डर करवा सकती है आपको उससे जरूर पूछताछ करनी चाहिए फिर उसकी सच्चाई सामने आएगी कि तुम खुद मर्डर केस के इल्जाम में जेल जा रहे हो और तुम्हें इस वक्त उसके बारे में सोचने के बजाय अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए तुम उसकी चिंता छोड़ो बस अपने बारे में सोचो विक्रांत ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा देखो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम्हारी फैमिली में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहिनी बहुत बड़ा योगदान था लेकिन वो एक अलग फैक्टर है तुम ये मत भूलो कि वो मर्डर तुमने अकेले किया था उसमें मोहिनी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं थी हाँ एक नजरे से तुम भी विक्टिम हो लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है ना फिर चाहे वो विक्टिम करे या पेशेवर मुजरिम तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ हम्म, समझ रहा हूँ सर अंकित ने अपना सिर नीचे करके कहा जब तक विक्रांत इंटरोगेशन रूम से दोबारा बाहर आया तब तक वहां बाहर मौजूद सभी पुलिस वाले जा चुके थे टीम बी के लीडर चेतन भी चुपचाप वहां से निकल गए थे इसके बाद विक्रांत ने केस के आगे की फॉर्मेलिटी को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने जूनियर्स को दे दी फिर खुद घर के लिए निकल पड़ा रास्ते में उसने कई बार नैना का फोन लगाने का प्रयास किया लेकिन अभी भी उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर ही आ रहा था विक्रांत काफी थका हुआ था वो अभी अपने घर पहुंचा ही था कि उसके पास स्वाति की कॉल आ गई स्वाति ने विक्रांत को बताया कि मिस्टर मेहता के छोटे भाई रवि मेहता को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था अब उसने अपने बयान में सब कुछ बता भी दिया है उसने बताया कि कैसे उसने सोमेश को इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए रेडी किया था रवि ने सुमेश के घर की फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपना शिकार बनाया था रवि ने सोमेश से कुल पचास लाख रुपए की डील की थी और इस डील के तहत सुमेश को पहले मेहता सिस्टर्स का मर्डर करना था और फिर उसके बाद इस मर्डर के लिए मोहनी को फंसाना था प्लान के मुताबिक पहले सुमेश को मेहता सिस्टर्स की हत्या करनी थी और फिर खुद को पुलिस की गिरफ्त में लाना था और फिर पुलिस के पूछने पर झूठा बयान देते हुए मोहनी का नाम लेना था रवि मेहता ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए एडवांस में सुमेश को 20 लाख रुपए दे दिए थे ये पैसे खुद रवि मेहता ने अपने नाम से सुमेश के बैंक अकाउंट में डाले थे इसका मोहनी के अकाउंट से निकले पैसों से कोई कनेक्शन नहीं था सुमेश और रवि के बीच पूरी डील पचास लाख रुपए में हुई थी और बाकी का पैसा पूरा काम होने के तुरंत बाद देने की बात हुई थी हालांकि रवि को यह नहीं पता था कि सुमेश की मौत हो जाएगी और उसकी मौत होने से रवि का पूरा प्लान चौपट हो गया ऊपर से रवि को यह भी नहीं पता था कि सुमेश ने अपनी और उसकी डील करते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी इसी रिकॉर्डिंग के चलते रवि की पूरी सच्चाई सामने आ गई थी अब मोहनी को बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा और पुलिस अब रवि के खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी कर रही है जल्दी ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा अब चूंकि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो चुका है ऐसे में बोरीवली ब्रांच की टीम को चारों तरफ से तारीफ मिल रही है न सिर्फ यहाँ की पुलिस टीम को सराहा जा रहा बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड विनोद राय को भी करारा जवाब मिल चुका है स्वाति ने थोड़ा इमोशनल होते हुए विक्रांत से पूछा सर मुझे ना एक चीज को लेकर थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था आपको नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है मेरा मतलब हमने जो फेक मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर सुमेश की वाइफ से गवाही ली है क्या वो सही था दरअसल विक्रांत इस तरह की तरकीब का इस्तेमाल बहुत बार कर चुका था वो अक्सर ऐसी झूठी कहानियां बनाकर लोगों से सच्चाई निकालने का काम करता था चाहे सुमेश की फेक मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर अंकित को चाकू का फेक फॉरेंसिक रिपोर्ट जब इस मदद से सच बाहर आता है तो विक्रांत इसे कतई गलत नहीं मानता है विक्रांत की नजर में ये बिल्कुल गलत नहीं था क्योंकि वो इसका इस्तेमाल किसी गुनाहगार को सजा दिलवाने के लिए करता था न कि किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अब अगर अंकित मुजरिम ना होता और उसने अगर टीना का मर्डर ना किया होता तो फिर विक्रांत उसके सामने कितने भी सबूत क्यों ना रख देता वो कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता उसने मर्डर किया था तभी तो उसने इसे कबूल किया और जब उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो फिर एविडेंस कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है विक्रांत ने यह सब नैना से सीखा था नैना ने उससे एक बार कहा था fake it till you make it किसी भी केस को सॉल्व करने का अनोखा मेथड है लेकिन जब स्वाति ने सीधा ही विक्रांत से इस बारे में सवाल किया तो वो समझ नहीं पाया कि इसका क्या जवाब दे उसने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद साथियों देखो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमें रिग्रेट फील होना चाहिए अगर हम किसी भी तरीके से सच को सामने ला रहे हैं और मुजरिम को पकड़ रहे हैं विक्टिम को न्याय दिला पा रहे हैं तो उसके लिए ये सही है सच को सामने लाने के लिए और किसी को न्याय दिलाने के लिए बोला गया झूठ गलत नहीं होता है समझे हम्म समझ गए सर आप सच में बहुत अलग तरीके से काम करते हैं मुझे आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है स्वाति ने जवाब दिया आपकी एडवाइस बहुत कमाल की होती है सर फिर कुछ देर तक बात करने के बाद उन दोनों ने फोन रख दिया स्वाति की बात करने के अंदाज से विक्रांत को फील हो रहा था स्वाति उसे अटैच होने की कोशिश कर रही है लेकिन विक्रांत ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया आज विक्रांत काफी खुश था उसे एक अलग तरह की संतुष्टि का अनुभव हो रहा था बातों बातों में विक्रांत स्वाति से एक चीज पूछना तो भूल ही गया था जब विक्रांत ऑफिस में विनोद और उसकी टीम के साथ फाइट कर रहा था तब स्वाति ने फोन पर विक्रांत की मदद करने के लिए कहा था और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर चीफ कटियार साहब पहुंच गए थे तो कहीं स्वाति नहीं तो उन्हें नहीं भेजा था विक्रांत को स्वाति के करेक्टर पर थोड़ा शक होने लगा वैसे भी ये लड़की नॉर्मल नहीं लगती है कहीं इसका कोई बड़ा कनेक्शन तो नहीं है